झाका तो देखा आंगन में झाका तो देखा आंगन में तुलसी बिरवे थे लगे हुए तुलसी बिरवे थे लगे हुए दीवारों खम्भों आलो पर सद्धर्म वाक्य थे लिखे हुए बजरंगी ने सोचा कोई हरि भक्त यहाँ पर रहता है पर इस राक्षस नगरी में यह कैसे व्यतीत दिन करता है यदि कोई सज्जन आस्तिक है यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो इससे मिलना बुरा नहीं तो इससे मिलना बुरा नहीं फिर बिना एक के भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं हो सकता अपना भला नहीं रात से सती पर पहर भर होनहार था खाज राम राम कहते हुए जगे विभीषण राज राम राम कहते हुए जगे विभीषण राज वह घर वाला वह गृह स्वामी वह घर वाला वह गृह स्वामी दूषण नगरी का भूषण था दूषण नगरी का भूषण था रावण का छोटा भाई था रावण का छोटा भाई था उसका शुभ नाम विभीषण था उसका शुभ नाम विभीषण था यह घटना पिछले तब की है दस कंधर जब तप करता था दस कंधर जब तप करता था उस समय विभीषण भाई भी जगदेश्वर का जप करता था जगदेश्वर का जप करता था मैं मरो न यक्ष राक्षसों से वरदान लिया यह रावण ने वरदान लिया यह रावण ने हरि भक्ति प्राप्त हो जाए मुझे मांगा यह वचन विभीषण रे मांगा यह वचन विभीषण रे तब से ही भक्त विभीषण में दिन पर दिन भक्ति बढ़ रही थी उस भक्ति भाव के साथ साथ सेवा की शक्ति बढ़ रही थी हनुमत ने जब धर विप्र रूप हनुमत ने जब धर विप्र रूप बाहर से जय श्री राम कहा बाहर से जय श्री राम किया सानंद विभीषण उठ गए सानंद विभीषण उठ गए ब्राह्मण को देख प्रणाम किया ब्राह्मण को देख प्रणाम किया कहा धन्य हूँ आज मैं पा ऐसा मेहमान क्या आज्ञा है दास को बतलाए श्रीमान हाँ बतलाए श्रीमान हाँ बतलाए श्रीमान हे विप्र आप को देख देख हे विप्र आप को देख देख यह हृदय आप ही खिंचता है यह हृदय आप ही खिंचता है है निश्चय आप भक्त कोई है निश्चय आप भक्त को ही यह मुझे दिखाई पड़ता है यह मुझे दिखाई पड़ता है बड़भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को हे महाराज से चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को जो कुछ भी राम प्रसादी है जो कुछ राम प्रसादी है फल कंद मूल स्वीकार करे अपने इस दास विवेचन पर अपना इतना उपकार करे अपना इतना उपकार करे अपना इतना उपकार करे नाम विभीषण और फिर यह प्यारा व्यवहार धीरे धीरे इस तरह बोले पवन कुमार धीरे धीरे इस तरह बोले पवन कुमार अचरज है कागों के दल में अचरज है कागों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा कांटों के भरे करीलों में मलयागिर का चंदन कैसा हाँ मलयागिर का चंदन कैसा असुरों में कैसे महाराम भक्त तुम असुरों में कैसे राम भक्त तुम जीवन यापन करते हो असुरों में कैसे भक्त राज तुम जीवन यापन करते हो रावण की सेवा में रह कर श्री रामोपासन करते हो श्री रामोपासन करते हो श्री रामोपासन करते हो वे बोले जैसे जिह्वा है बत्तीस नुकीले दांतों में रहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में कपि बोले मुह की बत्ती से सब टूट फूट कर गिर जाएगी पर जेवा जीवन भर रह कर श्री राम नाम गुण गाएगी श्री राम नाम गुण गाएगी श्री राम नाम गुण गाएगी भक्त विवेषण धन्य तुम धन्य तुम्हारा प्रेम धन्य तुम्हारी धारणा धन्य तुम्हारा नेम हा धन्य तुम्हारा नेम हा धन्य तुम्हारा नेम जो सज्जन है सत्संगी है वे कहीं छिपाए छिपते हैं एक ही पंथ के दो पंथे इस प्रकार देखो मिलते हैं इस प्रकार देखो मिलते हैं तुम भाई हुए आज मेरे अब तुमसे मुझे कपट क्या है सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है यो तो छल और कपट जग में पातक ही समझा जाता है पर भक्त वैष्णवों के सम्मुख वह महापाप कहलाता है ब्राह्मण शरीर का धोखा है ब्राह्मण शरीर का धोखा है है हनुमान हूँ बानर हूँ सीता सुध लेने आया हूँ रामचंद्र का अनुचर हूँ हाँ रामचंद्र का अनुचर हूँ हाँ रामचंद्र का अनुचर हूँ रामदास मेरे यहाँ जागृत है या स्वप्न भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न हाँ इसी ध्यान में मग्न कह उठा हृदय खुल गया भाग्य आये श्री राम दुलारे हैं ब्राह्मण से भी यह बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं फिर कहा प्रगट है धन्य आप जो राघवेंद्र के अनुचर हैं क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी क्या मुझसे अधम दास को भी रखेंगे राघव साथ कभी रखेंगे राघव साथ कभी सीता के सुध पीछे लेना पहले मेरी सुध लो भाई जिन चरणों में रह रहे आप मुझको भी पहुँचा दो भाई मुझको भी पहुँचा दो भाई मुझको भी पहुँचा दो भाई वह दिन कब होगा भ्रात वह दिन कब होगा भ्रात मिले रघुनाथ मिले रघुनाथ दया दिखलाए इस सेवक को अपनाए वह दिन कब होगा भ्रात मिले रघुनाथ मिले रघुनाथ दया दिख लाए इस सेवक को अपनाए वह होगा स्वर्ण प्रभात मिटेगी रात मिटेगी रात वह होगा स्वर्ण प्रभात मिटेगी रात मिटेगी रात नाथ मिल जाए इस सेवक को अपनाए दयाधिक लाए इस सेवक को अपनाए वह दिन कब होगा नाथ मिले रघुनाथ दिख लाए इस सेवक को अपनाए इस सेवक को अपनाए जे भर कर कब हम रोएंगे जे भर कर कब हम रोएंगे कब उन चरणों को धोएंगे जीवन भर कब हम रोएंगे कौन चरणों को धोएंगे कब पुष्प चढ़ा कर भावों के कब पुष्प चढ़ा कर भावों के श्रद्धा के दीप सजोएंगे अंतर्यामी भगवान न देर लगाए जित सेवक को अपनाए वह दिन कब होगा भ्रात वह दिन कब होगा भ्रात मिले रघुनाथ दया दिख लाए इस सेवक को अपनाए दया दिखलाए इस सेवक को अपनाए वह दिन कब होगा नाथ वह दिन कब होगा भ्रात मिले रघुनाथ मिले रघुनाथ मिले रघुनाथ देख विभीषण के दशा पुल के पवन कुमार यमुना से गंगा मिले बढ़ा सने हय पार